ವೇದಾಂತಸ್ಯತೆ ಆಯಸ್ಸಿನಯ್ಯಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶಿ परिसर पर रहा पक्ष देखते आज महर्षि दयानंद प्रथम प्रकाश में पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या की जाएगी ओम वसुर्वसु विभावसु यामते सुमदावती व्याख्या हे में बसाने वाले और सबसे आप बसने वाले हो तथा वसुपति पृथ्वी आदि वहां देव गुरु के पति कपति हे अग्नि विज्ञानानंद सुप्रकाश लोग आपके सबके सुखकार अमल सुख स्वरूप हो तथा विभावत हो सत्या सुप्रकाश एक धनमय हो हे भगवान जैसे जो आप उल्टे आपकी सुमनो अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान और परस्पर प्रीति में हम लोग सब सिर पदार्थ ईश्वर को वसी कहा ईश्वर हम सब मोहपास करता है और हम सबको बसाता है क्या ऐसे ईश्वर को आप देखना नहीं चाहते संतों की शिक्षा यही रहती है कि हम ईश्वर के दर्शन करें परंतु एक नियम काम करता है प्राप्त करना चाहता है उसके लिए एक नियम है कि जिसको वो प्राप्त करना चाहता है उस पदार्थ के गुणकर्म स्वभाव को जाने उस पदार्थ को प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति यदि उसके स्वरूप को नहीं जानता तो उस वस्तु को वो प्राप्त कभी भी नहीं कर पाता यदि दृष्टांत प्रत्यक्ष दृष्टांत लेना हो तो आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों के इस व्यवहार को देख सकते हैं आप इतना प्रयास करने पर भी ईश्वर का स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ स्थिति उनको आजादी दी अपनी ओर आई आप प्रश्न आपके सामने खड़ा है क्या आपको ऐसा ईश्वर प्राप्त हुआ क्या उत्तर देंगे आप गरीब नहीं होगा तो दूसरे लोग तो कहीं अधिक उलझने में उलझ भयंकर आप थोड़े से उनसे कम उलझे हुए अंदर कहीं कीजिए किसी को भ्रम न होवे कि वो लोग तो बहुत भीड़ जंगल में उलझे हुए और हम जो हैं उस स्थिति में आ गए जहां ईश्वर का दर्शन होता ऐसी बात नहीं अपने को खड़ा देखो आप आप अपने आप को आस्तिक कहते ईश्वर को मानने वाला कहते ईश्वर सच्चिदानंद इसको स्वीकार करते और आप कहां खड़े आप निरीक्षण कर लो आप टटोलिए और जो सत्यग्रहिता से टटोलेंगे तो आप अपने को लगभग खाली ये अलग है पांच प्रतिशत आप ईश्वर को मानते हैं पचानवे प्रतिशत आप ईश्वर को नहीं मानते इसलिए ईश्वर जो व्यापक है बसता है और बसाने वाला है वासई दीदी वसु वसती थी वसु तो वो ईश्वर ऐसा है फिर कहा वसुपति वसुपति जितना भी धन ऐश्वर्य है लोक लोकांतर है इन सारे ऐश्वर्य का ईश्वर पति है स्वामी स्वामित्व को देखिए दार्शनिक क्षेत्र में बंधन का कारण एक बहुत बड़ा ये निर्धारित किया गया है ये व्यक्ति लौकिक चीजों से अपना अनुचित संबंध स्वस्वामी संबंध जोड़ता है और ये फल धन को प्राप्त होता है आपको क्या समझ में आया सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा दोहराइए क्या समझ में आया अज्ञानता के कारण ये जीवात्मा मनुष्य श्री धारी गदा घोड़ा नहीं ये इन संसार की वस्तुओं से अपना अनुचित संबंध जोड़ता है और इनका स्वामी पर बैठता है इसी के कारण से ये दुखों को प्राप्त करता है बंधन को प्राप्त करता है बात कुछ नहीं है मान्यता को बदलना है प्रयोग करना रक्षा करना प्राप्त करना इसमें वाद विवाद नहीं है अच्छी से अच्छी चीजों को प्राप्त करो प्रयोग करो उनको सुरक्षित रखो नष्ट वर्ष बिल्कुल नहीं होने दो परंतु वसुपति क्या करोगे तो इन सब का पति मालिक स्वामी है ईश्वर को स्वीकार आप अपनी धन संपत्ति का ऐश्वर्य का बल का विद्या का स्वामी यदि ईश्वर को मान के चलते हैं तो मोक्ष के भागी होते हैं अपने आप को स्वामी मान के चलते हैं तो पन्न के भागी होते हैं अब बताइए बुद्धिमान क्या करे ईश्वर का ही माने बुद्धिमान व्यक्ति तत्व तत्ववेता व्यक्ति ईश्वर का मान के प्रयोग करता है अज्ञानी व्यक्ति अपना मान के प्रयोग करता है प्रयोग दोनों कर दे अच्छा जो ईश्वर का मान के प्रयोग करता है वो है और अपना मान के प्रयोग करता है बहुत दीवान आज कौन माना जाता है हाँ ये निर्धारित बात है बुद्धिमान कौन माना जाता है इन वस्तुओं में जो अपना मान के प्रयोग करता है वो बुद्धिमान माना जाता है और ईश्वर का मान के जो प्रयोग करता है वो पागल माना जाता है एक राजनीति का ग्रंथ है उसका नाम है पंचतंत्र क्या नाम है पंचतंत्र अनेक भाषाओं का अनुवाद माना जाता है उसमें कथा आती है कल्पना करता है बड़ी विचित्र वो कहता है एक बार ऐसा झगड़ा हुआ पशु पक्षियों में ऐसा और भाई उसकी कथा ऐसी विचित्र सी है कि भाई एक पत्नी का झगड़ा हो गया पत्नी तो किसी की थी अपना अपनाने के भी दूसरे ने तो सब पक्षियों को इकट्ठा किया और निर्णय के लिए कि निर्णायक कौन होगा ये झगड़ा तो इस पत्नी पर है ये पत्नी इसकी है या इसकी है पति को भी झगड़ा हो सकता पत्नी पर नहीं ये <laughs> हमने ऐसा भी सुना एक भारत का व्यक्ति अमरीका चला गया व्यक्ति की निंदा नहीं करे उदाहरण दे रहे उसमें उसका संबंध ऐसा हटते हटते हटते हटते बेचारे का बिगड़ गया बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते वो यहां पहुंच गया दो लड़कियों का झगड़ा इस बात पर नहीं समझे तेल बुद्धि है काम और एक लड़की कहे मैं विवाह करूंगी इसके साथ मेरा पति है और दूसरी कहे तो इसका ये मतलब नहीं पत्नियों पर झगड़ा होता है पत्नियों पर भी झगड़ा होता है इतना तो समझ गए तो भाई उनमें अध्यक्ष किसको बनाए निर्णायक किसको बनाए कि उल्लू को बना दिया उल्लू निर्णय करेगा भाई ये पत्नी किसके है और उल्लू ने निर्णय गलत दे दिया जिसकी पत्नी नहीं थी उसको कह दिया कि इसकी पत्नी थी जिसकी बेचारे की पत्नी थी छिन गई और वो कहता है सर्वमय मूर्ख मंडल अध्यक्ष सहित सारे के सारे मूर्ख अब कौन है मूर्ख मंडल जो अपना मानता है सर्वमेव मूर्ख कौन है आप भी आगे नहीं आए जो जो अपना मान के प्रयोग करते हैं वे सर्वमेव मूर्ख मंडल वसुपति ईश्वर सभी वसुओं धन संपत्ति विद्या लोक लोकांतरों का पदार्थों का स्वामी है इसलिए ऋषि ने एक बात लिखी दो बातें कह डाली सुर सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर दो तो में सारी बातें कह दी इसकी गहराई में जाओ सारा लौकिक व्यवहार और समाधि की प्राप्ति इस आर्य समाज के पहले नियम से उपलब्ध हो सकते हैं ऐसी इसमें विद्या सर्वसत्य विद्या भौतिक विद्या हो आध्यात्मिक विद्या हो जड़ पदार्थों से संबद्ध विद्या हो चेतन पदार्थों से संबद्ध विद्या हो सब सत्य विद्या जितना ज्ञान विज्ञान है सत्य उसका आदि मूल परमेश्वर है दूसरे भाग में वो जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर जीवात्मा पदार्थ है या नहीं और प्रकृति पदार्थ है या नहीं तो पदार्थों में आ गए तो इनका भी आदि मूल या और कुछ है तो अरुण जी कहते हैं आप क्या मानते हैं आप भी अपने निर्णय दो कुछ प्रकृति का भी आदि मूल परमेश्वर है या नहीं नहीं है जीवात्मा का आदि मूल परमेश्वर है या नहीं देखा आ जाएगा समझ में कोई बात नहीं इसलिए पदार्थ शब्द का सीमित रखो यद्यपि जीवात्मा भी पदार्थ है यद्यपि प्रकृति भी पदार्थ है पर पदार्थ शब्द का सीमित करेंगे सीमा बनाएंगे क्यों इसके बिना संगति नहीं लगे कल बताया था कल बताया था कि सर्वे भवन दुखी सब ब्राह्मणों को भोजन करवा दो ब्राह्मण दस है पंडित और गांव ब्राह्मणों का है तो क्या करोगे आप सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाते तो क्या मतलब हुआ दस पंडितों को दस को ही करवा रहा है गांव के गांव को ब्राह्मणों को नहीं बुलाना है तो यहां पर पदार्थ की सीमा क्या बनाई जो प्रकृति से जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर जीवात्मा का आदिमूल बिल्कुल नहीं है प्रकृति का आदिमूल ईश्वर नहीं प्रकृति अनादि है सत्वर जब कभी न बने और न कभी भौतिक वैज्ञानिक भी यही मानते जो वस्तु तत्व है अंतिम तत्व है न कभी वो उत्पन्न होता और न कभी तो आदि मूल परमेश्वर है यदि व्यक्ति इन दो बातों को ध्यान में रखता है कि जितनी विद्या मेरे पास में है या संसार में है इसका आदि मूल रखने वाला देने वाला आधार जितने मेरे पास जो पदार्थ हैं और दुनिया के पास में जो पदार्थ हैं उनका भी बनाने वाला आदि मूल यद्यपि आदि मूल परमेश्वर है उसको लेने के भौतिक वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वो ईश्वर के बनाए हुए में से लेते हैं स्वयं स्वतंत्र पदार्थ नहीं बना सकते क्या समझ में आया नहीं आया समझ क्या आया वैज्ञानिकों की बात में पहले थी पदार्थ पहले ईश्वर बनाएगा पुनः उन बनाए हुए में से लेके वैज्ञानिक लोग आविष्कार करेंगे वैसे वैज्ञानिक लोग प्रकृति को लेकर स्वतंत्र रूप में एक टनका भी नहीं बना सकते सारे संसार के प्राणी सारे संसार के जीवात्माएं ईश्वर को हटा दो अकेले रह करके उस प्रकृति से एक नीम का पत्ता नहीं बना सकते परंतु ईश्वर के बने हुए पदार्थों को लेकर के वैज्ञानिक लोग विविध आविष्कार करते हैं पर याद रखना इतने से ये बात नहीं हुई पूरी वो आविष्कार जो करते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य से आविष्कार नहीं कर सकते अब क्या समझ में आया उनका शक्ति और सामर्थ्य ईश्वर का है इस सामर्थ्य शक्ति से आविष्कार करते हैं ढूंढते हैं वो भी सामर्थ्य का ही है तो व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो जाएगा और ये कोई कल्पना नहीं है कि भाई मान लो मान लो बिल्कुल नहीं है मानना पड़ेगा या तो मान लो प्रेम से या मान लो विवस्था से या मान लो डंडे से बताओ कौन सा अच्छा है सत्यनारायण जी का नाम लो क्योंकि मैं जो सत्यग्राहिता देखी तो सत्यनारायण नाम की सत्यग्राहिता का ही नहीं तो सत्यनारायण तो बेकार है और सत्यपति सत्यपति भी बेकार है नहीं सत्य को बोले तो एक दृष्टि चीजें देखूंगा सत्यनारायण जी को और अपने को सत्यपति नाम सत्य का जो पालन करे सत्यपति और झूठ बोलता हो बेकार है सत्यपति नाम रखना और सत्यनारायण जो है वो नाम भी बेकार है तो क्या सुना नहीं चला था हाँ विवेक जी ने याद रखे आप की तेल बुद्धि नियम की तेल बुद्धि अच्छा तेल बुद्धि वाले से लाभ होता है मैं पूछ जाऊं तो याद दिला देता है और कास्ट बुद्धि वाला मुझे याद ही नहीं दिलाता ये मुश्किल पड़ जाती है हाँ क्या कहा या तो श्रद्धा और प्रेम से मान लो ईश्वर आदि गुर परमेश्वर है या व्यवस्था से मान लो भाई तुम कहां जाओगे प्रमाण से सिद्ध करो न्याय के आधार पर तुम स्वामी कैसे हो नहीं सिद्ध कर सकता कुछ सिद्ध तो नहीं कर सकता फिर मान भी तो नहीं रहा हूं अवस्था होती है दादी जी कथा आती है उसकी सारी तर्क वितर्कों को उठाते हुए महर्षि दान सरस्वती जी ने उत्तर दे दिया उसका मुंह बंद कर दिया तो बताया जाता स्वामी श्रद्धा जी कहते महाराज जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरे मन में ईश्वर है ये भी मैं जाता बैठे ना बैठे स्वामी श्रद्धा जी को विवस्था होगी मानना पड़ेगा विवस्था की अवस्था आगे चल गुलाम इलाम देना श्रद्धा से मानना और और विवश होके मानना और आपने नियम भंग किया पहले तो श्रद्धा जी नियम पाला श्रद्धा फिर जब टोका टाकी हुई इधर से उधर से क्यों नियम भंग करते हो अच्छा अच्छा ठीक है मैं नियम पालन कर दूंगा वो विवस्था से और फिर नियम भंग किया आज का भोजन बंद यहां झाड़ू दो सारे माता ये क्या हुआ और कौन सी से मानोगे आप पहले वाला देव है और दूसरा सामान्य मनुष्य और तीसरा पशु है कौन सी कोटि में जाओ <laughs> तो देव कोटि में जाना है या मनुष्य कोटि में जाना है या पशु कोटि जो दंड से डर के मानते हो पशु कोटि के व्यक्ति होते तो कम अही कम सुखम आनंदम उच्चेते क्या समझे कम कहां का है ये कसमय देवाय हविषा विधेमा कसमय देवाय कम प्रजापति प्रमाण तो कम नाम सुखम और कम नाम आनंद तो कम अशी हे ईश्वर तम कम अशी क्या हुआ तू आनंद स्वरूप है कम असी अग्नि कम असी प्रकाश स्वरूप परमात्मा तू कम असी श्याम ते सुमतहु अभी इतना ही नहीं सुख ही प्राप्त करें हम आपका श्याम श्यात श्यादाम श्याम अब नहीं समझ में आया विधिलिंग क्या कहता है श्यात श्याम श्याम वयम श्याम वयम श्याम है श्याम है के मतऊ तेरा जो तो ज्ञान विज्ञान है हम उसमें अपनी बुद्धि को ठहराएं अर्थात आपके ज्ञान के अनुरूप व्यवहार श्याम तेरे मतऊ तेरी मति में तेरे ज्ञान में हम स्थित हों उसको माने जाने तो समय हमारा समाप्त होता है ये वेद मंत्रों से संकेत सीखो और वेद मंत्रों की व्याख्या वेद मंत्रों का व्यवहार में कैसे लाया जाता है केवल ये मंत्र पढ़ने से जरा दिखता है कि वेद मंत्रों में क्या रखा आप जब गहराई में जाएंगे सोचेंगे वैज्ञानिकों की तरह वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं और एकदम विज्ञान उनके हाथ नहीं लग जाता मुझे बहुत भयंकर परिश्रम करते और एक दिन आविष्कार कर डालते ये परमात्मा की खोज ईश्वर का स्वरूप ऐसे वेद मंत्रों के माध्यम से खोजा जाता है इन सुनी हुई बातों को आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक बात आपके जीवन में हलचल बता दें आंदोलन होगा आप भूल जाएंगे तेरा मेरा ये वो कहेंगे ये बात क्या है सारा हाँ, संसार ये कहता मेरा मेरा मेरा मेरे पर लड़ाई है वो कहता है मेरा ना तेरा न मेरा न इसका न उसका न इसका क्या बात है न तेरा और न मेरा न उसका न इसका न इसका न किसी का अब कहां जाओगे आप कौन से में जाओगे कोई कोई नंबर पड़ेगा हाँ इसका इसका भी नहीं है इसका भी नहीं है ना हम तो वहां से हटा रहे ना ये इनमें से किसी का भी नहीं है तो ये प्रयोग करके देखो आप कृतकृत्य हो जाएंगे और आप में ज्ञान बल उत्साह इतना आएगा परिवार समाज राष्ट्र को परिवर्तित कर देंगे अब बिना